दे दिया एवं अपनी अर्थात प्राग भाव से हेतु की अपी प्राग भाव को अगर हेतु स्वीकार करेंगे तब द्वि त्रि चतुर्षु तंतुषु सहस्र तंतु को पटो उत्पत्ति आपत्ति अभी अंशु से तंतु की उत्पत्ति हो रही है और तंतु सीधा जा रहा है पटो उत्पत्ति में मान लीजिए कन्वेक्स सिस्टम <laughs> अर्थात अंशु से तंतु बन रहा है तंतु से पट के लिए जा रहा है सीधा अभी मान लीजिए कि कुछ दस बीस सौ तंतु बन गया अभी सहस्र तंतु में वो प्रागभाव मानेंगे तभी आप कल्पना करते हैं कि सौ तंतु बन गया बाकी तो बन रहे हैं अभी ये सब में वो प्रागभाव रहेगा और प्रागभाव कब से है अनाधिकाल से है अभी नौ सौ तंतु बने नहीं कि तो अनादि प्रागभाव उसमें भी रहेगा रहेगा तो अभी जो सौ तंतु आगे इसमें वो कोटक का प्रागभाव है और पट प्राग भाव पट उत्पत्ति के प्रति कारण है इस प्रकार कहेंगे तो कहेंगे तब अभी पट उत्पत्ति हो जानी चाहिए कहेंगे कैसे पट उत्पत्ति होगा अभी नौ सौ तंतु आए नहीं तो ठीक है अभी वो तंतु भी आ गए तो अभी पूरा हजार तंतु हो गए किंतु नौ सौ को अलग रखे सौ को अलग रखे ये जो सौ तंतु हुआ इसी तंतु में भी पट का प्राग भाव रहा बाकी नौ सौ में तो है इसमें भी है तो होने से अभी ये स्वतंतु में पट की उत्पत्ति हो जानी चाहिए क्योंकि पट प्रावभाव का इसमें विद्यमान है तो ये अभी नब्बे लोग कहते हैं अथ मतलब एवं अभी द्वि त्री चतुर्सु तंतुषु दो तीन चार तंतु सहस्र तंतु को पट उत्पत्ति आपत्ति सहस्र तंतु को पट इसमें उत्पन्न हो सकता है स्वतंत्र मतलब यहाँ दो तीन चार बहुत कंजूसी कर दिए तो द्वित्री चतुर्षु तंतुषु सहस्र तंतु को पट उत्पत्ति आपत्ति क्यों उत्पत्ति आपत्ति टीका में दे दे उत्पत्ति आपत्ति इसमें तो अंतिम शब्द है तद संयोग व्यक्ति नाम त्वया हेतुता अनु अनभ्युपगमात प्राग भाव से तदानी सत्वा अभी नब्बे लोग कहते हैं ये जो सहस्र तंतु और उनका संयोग इनका तो आप कारण कोटि में लिए नहीं गरी ऐसी हो गया बोल करके और लघिवसी होगा बोल करके आप केवल प्राग अभाव में हेतुता मानिए अब ये द्वि त्रि चतुर इतने तंतु में भी तो प्राग अभाव है आप सहस्र तंतु सहस्र तंतु का संयोग इनको आप हेतु कोटि में लिए नहीं गुरु हो जाएगा वो करके प्राग भाव को ले तो प्राग भाव तो दो तीन चार में भी है तो वही पट उत्पत्ति हो जानी चाहिए तत्त संयोग व्यक्ति नाम तो या हेतुता अनभ्युपगमान तत्त संयोग व्यक्ति व्यक्ति नाम अच्छा अर्थात ये कहते सहस्र तंतु को तो लेना पड़ेगा नहीं तो उपादान नहीं होगा किंतु जो सहस्र संयोग होना चाहिए आपको सहस्र तंतु आ गया किंतु दो तीन चार में संयोग हो गया इतने हो जाने से आपको पटो उत्पत्ति हो जानी चाहिए क्यों कहते हैं संयोग आ गया संयोग चाहे वो रहे न रहे दो तीन चार में भी रहे न रहे किंतु तंतु तो चाहिए उपादान कारण ये चाहिए और संयोग अगर कहेंगे कि संयोग आपका होना चाहिए असमवाय कारण वो भी चाहिए क्योंकि दो तीन चार में संयोग हो गया और बाकी प्राग अभाव कहते हैं दो तीन चार में भी प्राग अभाव है तो टीका का पंक्ति के अनुसार तत्त संयोग व्यक्ति न या हेतुता अनुकूप जो एक हजार तंतु संयोग उसको आप हेतु कोटि में लिए नहीं नहीं दिए तो और प्राग को हेतु कोटि में ले लिए जो दो तीन चार पंक्ति में भी रहेगा तो तदानी मोटी सत्वा तो प्राग से तदानी तदानी अर्थात दो तीन चतुर्थ ये तंतु में प्राग अभाव है तो होने से दो तीन चार तंतु का संयोग हो जाने से उसी में पट उत्पत्ति हो जानी चाहिए इस प्रकार की कहते तो आपका समवाय कारण तंतु है असमवाय कारण तंतु तो संयोग दो तीन चार में आ गया प्राग भाव है सब पदार्थ आ गए तो पट उत्पत्ति हो जानी चाहिए ऐसे नब्बे लोग दोष दिखाए प्राचीन लोग कहते हैं मच चरम संयोग व्यक्ति तद व्यक्तित्व हेतुत्व न आपत्ति चरम संयोग चरम तंतु का संयोग हजार तम वो तंतु का संयोग तद व्यक्तित्व कारण होगा तो होने से जब तक हजार सहस्र तम तंतु का संयोग नहीं हो जाएगा वो सहस्रतम संयोग व्यक्ति उपस्थित होगा नहीं होगा नहीं होगा तो वो कारण है वो कारण नहीं है उनसे कार्य नहीं होगा चरम संयोग व्यक्ति तद व्यक्तित्व अर्थात चरम संयोग व्यक्तित्व चरम चरम संयोग हेतु न आपत्ति ऐसे प्राचीन लोग कहेंगे इति चेत इति मत्स्य भाष्य लोग कहते हैं चरम संयोगत्व हाँ इसी प्रकार के तो उसके बाद जैसे कहेंगे अज्ञान पूर्ण निवृत्त हो गया इसी प्रकार के लोग कहेंगे कि तभी अर्थात चरम संयोग अर्थात सहस्रतम चंतु का संयोग वही पट की उत्पत्ति तो अभी नब्बे लोग कहते हैं तथा सती आप नब्बे लोग कहते हैं प्राचीन लोग आप ये प्राग भाव क्यों मानना आरंभ किए कि जो सहस्र तंतु से भिन्न तंतु है उसमें भी पट की उत्पत्ति न हो जाए इसलिए प्राग भाव मानते हैं जो कि सहस्र तंतु में रहेगा अभी आप कहते हैं कि प्राग भाव के साथ चरम तंतु संयोग को भी आपको कारण कोटि में लेना होगा तो अभी चरम तंतु संयोग था सहस्रतम तंतु संयोग ये सहस्र तंतु का अन्यत्र रहेगा क्या नहीं रहेगा तो अगर सहस्र तंतु से अन्यत्र ये चरम तंतु संयोग नहीं रहेगा तो फिर अन्यत्र ये पट उत्पन्न हो जाएगा क्या नहीं होगा नहीं होगा तो फिर प्राग भाव क्यों मानते हैं प्राग भाव मानते हैं कि ये सहस्र तंतु में है अन्यत्र नहीं है नहीं होने से वहां पट उत्पत्ति नहीं होगी अभी तो ये हो गया कि अन्यत्र चरम संयोग ही नहीं हो नहीं होगा तो नहीं है तो फिर वहां पट उत्पत्ति नहीं होगी नहीं होंगे तो फिर आप प्रागभाव को क्यों मानते हैं स्पष्ट होगा ना प्रागभाव इसलिए स्वीकार कर देंगे सहस्त्र तंत्र में प्रागभाव है यही पट उत्पत्ति होगी अन्यत्र प्रागभाव नहीं है पट उत्पत्ति नहीं होगी तो अभी तो कह दिए सहस्र तंतु में ही चरम तंतु को रहा सहस्रतम में अन्यत्र नहीं है तो अन्यत्र उत्पन्न नहीं होगा ये प्रागभाव फिर मानने का क्या जरूरत है ये न तो कहते हैं तथा सती स्व अनधिकरण तंतुषु अपि स्व अनधिकरण रुद्री अच्छा स्व अनधिकरण का पूर्व में और एक पंक्ति तत्त संयोग व्यक्ति नाम हेतु को उपगम से अभी ये दोष मतलब दोष हो गया था कि नब्बे लोग दोष दे दिए प्राचीन लोगों को जो ऊपर पंक्ति था हम लोग देखे थे उसका तत्त संयोग व्यक्ति को तो आप हेतु नहीं मान रहे और प्राग भाव को हेतु मान रहे हैं दो तीन तंतु में भी संयोग आ जाएगा तब प्राग भाव उसमें भी है तो दो तीन तंतु में पट उत्पन्न हो जाए इस दोष को वारण करने के लिए अगर प्राचीन लोग कहेंगे तत्त संयोग व्यक्ति हेतु को हम तत्त संयोग व्यक्ति को हम हेतु मान लेंगे अर्थात हजार संयोग को हेतु मान लेंगे तो नब्बे लोग कहते हैं तो व्यर्थों प्रागभाव कल्पना हजार तंतु संयोग अगर मान लेंगे कारण कोटि में प्रागभाव फिर क्यों मानते हैं आवश्यक नहीं है ये आत्मा हाँ। आगे स्व अनधिकरण तंतुषु सहस्र तंतु का पट अनधिकरण तंतुषु सहस्र तंतु का पट ये पट का अधिकरण कितने तंतु हो जाएंगे सहस्र तंतु और उनका अनधिकरण कौन होगा अन्य तंतु तो अन्य तंतुषु दिन पड़ेगी तथा सती स्व अनधिकरण तंतुषु अपनी तो उस पट का जो अधिकरण हो गया सहस्र सहस्र भिन्न तंतु हो गया अनधिकरण उस तंतु में चरम संयोग रहेगा नहीं रहेगा तो चरम संयोग अभाव चरम संयोग अर्थात तद पट जनक चरम संयोग तो चरम संयोग अभाव पट उत्पत्ति वारण संभव तो वो स्व अनधिकरण तंतु में पट उत्पत्ति नहीं होगी वारण संभव प्राग अभाव कल्पना अनुचित्या चेत फिर प्राग अभाव कल्पना करना ये व्यर्थ है कि चेत यहाँ तक नब्बे लोग कह दिया प्राग अभाव मानने का आवश्यक नहीं है प्राचीन लोग कहते हैं न ये बात ठीक नहीं है चरम संयोग से समवाय घटित सामानाधिकरण्य प्रत्याशत्या हेतुत्व चरम संयोग से हेतुत्व अन्वय इस प्रकार करेंगे चरम संयोग हेतु माना गया अभी प्राचीन लोग कहे कि चरम संयोग हेतु मान लेंगे तो मानने से दो तीन में पट उत्पन्न नहीं हो जाएगा ये दोष को वारण करने के लिए माने तभी चरम संयोग से हेतुत्व कैसा हेतु कहेंगे कहेंगे समवाय घटित सामानाधिकरण्य प्रत्याशत्या प्रत्याशत्या सन्निकर्ष समवाय घटित सामानाधिकरण्य ये जो चरम तंतु संयोग ये तंतु में किस समझ से रहेगा तंतु संयोग समवाय समझ से और पट तंतु में किस समझ से रहेगा समवाय समूह से तो कहते हैं समवाय घटित समानाधिकरण दोनों ही समवाय समूह से रहेगा तभी चरम तंतु संयोग समवाय घटित समानाधिकरण्य से हेतु हो गया किसके प्रति चरम तंतु संयोग हेतु हेतु हो गया पट के प्रति किस संबंध से समवाय संबंध से तो समानाधिकरण्य दोनों ही समवाय संबंध से रहेंगे अभी समवाय संबंध से अगर वो पट रहा समवाय समझ से पट केवल चरम तंतु में रहेगा ना प्रथम द्वितीय तृतीय तंतु में भी रहेगा रहे तो अभी अगर आप कहेंगे कि चरम तंतु संयोग ही हेतु है जहाँ चरम तंतु संयोग वहाँ समवाय समझ से पट ऐसा आप कहते हैं किंतु तो समवाय समझ से पट तो प्रथम द्वितीय तृतीय तंतु में भी रहा तो वहाँ क्या चरम तंतु संयोग समवाय समझ से रहा नहीं रहा तो फिर आपका चरम तंतु संयोग ये कैसे हेतु हुआ अगर मानेंगे तो व्यविचार हुआ पट समवाय संबंध से रहेगा वहां जहाँ चरम संयोग रहेगा और प्रथम द्वितीय तृतीय तंतु में चरम संयोग नहीं रहा क्योंकि पट समवाय संबंध से रहेगा इसलिए समवाय संबंध है ना चरम संयोग ये हेतु नहीं बनेगा व्यविचार हो इसको कहते हैं प्राचीन लोग कहते हैं तो चरम संयोग से समवाय घटित सामानाधिकरण्य प्रत्याशत्या हेतु अर्थात हेतु अगर माना जाएगा तो तंतुअंतरे समवाय न पटोत्पत्तिया तंतुअंतरे अर्थात आद्य आद्य मध्य तंतु है वो सब में भी समवाय संबंधन पट की उत्पत्ति होगी तो तंतुअंतरेशु अपनी अर्थात आद्य मध्य तंतु अर्थात चरम तंतु का चरम तंतु नहीं है तो वो तंतुअंतर हो गए तंतुअंतरे अपनी तंतुअंतरे दिया टीका में दिया स्व अनधिकरण तंतुषु अच्छा दे दिया सहस्र तंतु पट अनधिकरण तंतुअंतर दे दिया चरम संयोग अधिकरण तंतु भिन्न सहस्र तंतु का पट अधिकरण तंतु चरम संयोग का अधिकरण तंतु मान लीजिए सहस्रतम तंतु तो उस तंतु से भिन्न जो तंतु होंगे मान लीजिए प्रथम द्वितीय तृतीय तंतु हो जाएंगे वो भिन्न और सहस्र तंतु का पटता अधिकरण नहीं तो सहस्रतम तंतु से भिन्न तंतु वो बाकी दूर में रहने वाला तंतु भी हो जाएंगे उसको नहीं लेना है इसलिए कहते हैं कि चरम संयोग का अधिकरण तंतु जो सहस्रतम तंतु उससे भिन्न होना चाहिए किंतु सहस्र तंतु पट का अधिकरण होना चाहिए अर्थात प्रथम द्वितीय तृतीय इत्यादि को तंतु होना चाहिए जो दिनकर में तंतु अंतरे कह दिया अर्थात ये प्रथम द्वितीय तृतीय तंतु कोई ले लीजिए वहां भी समवाय न पट की उत्पत्ति होती है पटो उत्पत्तिया और तत्र समवाय न चरम संयोग अभाव हेतु माने थे समवाय न चरम संयोग और वो प्रथम द्वितीय तृतीय तंतु में रहा नहीं किंतु वहां समवायन पट रहा रहा रहने से कार्य कारण विचार हो गया तो विचार आपत्या अभी ये प्राचीन लोग कह रहे हैं तो कहते हैं फिर प्राचीन लोग स्वयं ही चरम तंतु को चरम संयोग को हेतु लेते थे अभी कहते हैं लेने से ये दोष होता है इसलिए हम लोग क्या समाधान देते हैं पट तो सर्वत्र उत्पन्न हुआ सहस्र तंतु में चरम तंतु संयोग को चरम संयोग को भी सहस्र तंतु में रखना पड़ेगा तो कह रहे हैं समवाय संबंधे न तत्पटत्वावच्छिन्न प्रति चरम संयोग व्यक्ते है समवाय संबंधे न तत्पट ये पूरा सहस्र तंतु में रहेगा सर्वत्र चरम संयोग को रहना पड़ेगा चरम संयोग व्यक्ते है कालिक संबंध न हेतुता वाच्या अभी कालिक संबंध है न चरम संयोग जो कि सहस्र तंतु में होता है समवाय संबंध से अभी वो काली का संबंध से पूरा एक हजार तंतु तो सर्वत्र रह जाएगा तो प्राचीन लोग कहते हैं हम कहेंगे कि चर्म संयोग हेतु है और वो काली का संबंध से सर्वत्र रह जाएगा अभी आप ये विचार नहीं दिखा पाएंगे तो जो समवाय संबंध है ना चरम संयोग जहाँ रहेगा समवाय संबंध न पट उत्पत्ति होगी इस प्रकार की नहीं है काली का संबंध न चरम संयोग जहाँ रहेगा समवाय संबंध न पट उत्पत्ति वहां होगा इस प्रकार के समाधान दे दिए अभी काली का संबंध है चरम संयोग केवल सहस्रतम तंतु में रहेगा ना सभी में रहेगा सभी में रह जाएगा तो सहस्र में रह जाएगा रहने से पट उत्पत्ति हो जाएगी इसमें किंतु तो अभी दोष क्या आएगा अन्यत्र भी हो जाएगा ये सहस्र को छोड़ करके काली का संबंध ना नदी में पर्वत में भी रहेगा तो वहां भी पट उत्पत्ति हो तो प्राचीन लोग इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राग भाव को कहना है वहां नहीं रहेगा प्राचीन लोग कह रहे हैं समवाय संबंध न तत्पटत्व अवच्छिन्न प्रति चरम संयोग व्यक्त है कालिक का संबंध न हेतुता वाच्य ये कहना पड़ेगा तब क्या हो जाएगा कालिक संबंध न सहस्र तंतुषु चरम संयोग रह जाएगा तो ये घट जाएगा तो इससे क्या होगा तथा स्व अनधिकरण तंतुषु अभी स्व अनधिकरण अर्थात सहस्र तंतु से भिन्न अन्यत्र भी स्व स्वबोध से वो पट पट का जो अनधिकरण तंतु अर्थात सहस्र भिन्न तंतु उसमें भी कालिक विशेषणतया चरम संयोग से सत्व तो वो सहस्र भिन्न तंतु में भी का संबंध से चरम संयोग रह जाएगा रहने से सत्वात उत्पत्ति वहां भी पटोत्पत्ति प्रसंग आ जाएगा तो उत्पत्ति वारणाय प्राग हेतुत्व से आवश्यकत्वात इसलिए प्राग भाव हेतु ये स्वीकार करेंगे राग भाव हेतुत्व से आवश्यकत्वाद इति वदंती इसी प्रकार की अर्थात ये प्राचीन लोग यहाँ तक कहते हैं राग भाव को तो स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो सहस्व तंतु भिन्न में भी चरम संयोग तालिक संबंध से रह करके पट उत्पत्ति करवा देगा इसलिए प्राग भाव स्वीकार करना पड़ेगा जो कि सहस्त्र तंतु में रहेगा अन्यत्र नहीं रहेगा तो अन्यत्र पट उत्पत्ति नहीं होगा ये प्राचीन लोग कहते हैं अभी नब्बे लोग कहते हैं एवं अभी अस्तु अगर प्राग मानना है तो एवं अभी अस्तु कश्चित अतिरिक्त पदार्थ ठीक है प्राग भाव एक अतिरिक्त पदार्थ हो तथापि तस्य सप्रतियोगित्व प्रमाणाभाव ये एक अतिरिक्त पदार्थ हो किंतु ये सप्रतियोगी का होगा अर्थात ये प्रतियोगी वाला होगा प्रतियोगी वाला होगा अर्थात ये एक अभाव होगा इसमें कोई प्रमाण नहीं है ये एक कारण होगा ये जहाँ रहेगा वही कार्य उत्पत्ति होगी जहाँ नहीं रहेगा वो कार्य वहाँ नहीं होगा उत्पन्न नहीं होगा एवं अभी अस्तु कश्चित अतिरिक्त पदार्थ तथा तस्य प्रमाण प्रमाणाभाव इति तत्व कहते हैं तत्व टीका में दे दिया एवं अभी अस्तु ये विधिधिकृता अभिप्रेतम आह क्योंकि विधिधिकार रघुनाथ शिरोमणि यही प्रागभाव को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हुए तो अर्थात नब्बे में ये रघुनाथ और प्राचीन इनका बीच में विवाद हुआ अंतिम में विधिकारों ने कह दिए कि ठीक है प्राग भाव के पदार्थ हो सब प्रतियोगी का नहीं होगा इसका अर्थ रामरुद्री में लेते हैं तथा तस् अभाव है न ये एक अभाव पदार्थ क्यों होगा वो के कारण है किन्तु अभाव क्यों होगा न प्राग भाव सिद्धि भाव एक भी पदार्थ तो मान सकते हैं किंतु इसको अभाव नहीं कर पाएंगे इसलिए प्राग अभाव नहीं होगा यहाँ तक ये दिथितिकार ये विचार एक प्राग अभाव का विचार ये हो गया भाव हो अर्थात कोई एक पदार्थ आप मानेंगे जो कि कारण है जो सहस्र तंतु में है जो अन्यत्र नहीं है इसको एक अभाव मानने का क्या जरूरत है कोई एक भाव पदार्थ मानिए अनेक पदार्थ ये उनका तात्पर्य है कहने कैसे ये तो कहते हैं अतिरिक्त तो पदार्थ है सात से अलग मानिए हाँ, तो न ये क्या ना तो वहाँ नब्बे लोग मतलब वहाँ वो लोग कह देते हैं आप पदार्थ तो बहुत मानिए किंतु निश्चय साधन के लिए जितने पदार्थ का ज्ञान चाहिए उसमें इसको नहीं मानेंगे अब बाकी मानिए कोई आवश्यक नहीं मतलब उसका कोई संख्या नियमन करने का आवश्यक नहीं है तो यहाँ तक प्राग भाव हो गया आगे ध्वंस से लक्षण आभ क्या चीज प्रतियोगी अर्थात अभाव अभाव का प्रतियोगी होता है तो इसको आगे कह दिया ना न प्राग अभाव सिद्धि अर्थात इसको अभाव को भी मैं मानने का कोई प्रमाण नहीं है कोई एक अतिरिक्त पदार्थ हो किंतु अभाव होना ऐसा कोई जरूर नहीं क्योंकि अभाव जो है वो साथ में आता है जो कि आपको निश्रेय से ज्ञान के लिए आवश्यक है इसलिए तात्पर्य है कि वो से ज्ञान के लिए जितने पदार्थ है उसमें संख्या नहीं बढ़ाना आप साथ से बाहर जो मानना है वो आप मान सकते हैं तो अतिरिक्त पदार्थ ये चाहे हो सकता है कि तो अभाव नहीं साथ अभाव कहने में कोई तात्पर्य नहीं अच्छा मतलब जैसे भाव अतिरिक्त कह सकते हैं अभाव अतिरिक्त कह सकते हैं कह सकते हैं रघुनाथ जी मिलने से देखिए अभाव का मानना अर्थात अभाव को एक कारण कोटि में अधिक स्वीकार करने की अपेक्षा अगर हमको एक कारण चाहिए भाव स्वीकार करना अधिक मतलब अच्छा है क्योंकि अभाव का ज्ञान के लिए आपको प्रतियोगी ज्ञान जरूरत हो रहा है तो क्यों गुरु को स्वीकार करेंगे प्रतियोग ज्ञान तो चाहिए आपको अभावत्व ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए अलग बात है तो प्रतियोग ज्ञान जरूरत होगा तो इसलिए क्यों अभाव को अधिक कारण प्रति में देंगे अच्छा आगे कहते हैं ध्वंस का लक्षण कहते हैं मुक्तावली में दिया ध्वंस का लक्षण दो पृष्ठ आपको कहते हैं इसमें अच्छा जन्य भावत्व ध्वंसत्व तो जन्य जो अभाव इसको ध्वंस कहेंगे जन्य अभाव अभावत्व ध्वंसत्व प्रागभाव अतिव्याप्ति वारणाय जन्य राग प्रागभाव में अतिव्याप्ति न हो इसलिए जन्य अभाव कह दिया गया आगे अत्यंत अभाव से लक्षण ये ध्वंस का बस इतना ही लक्षण कह दिए इसमें कोई विवाद नहीं है आगे अत्यंत अभाव का लक्षण नित्य संसर्गाभावत्व अत्यंताभावत्व नित्य हो और भाव हो इसको भाव कहेंगे क्योंकि भाव तो ये तीन प्रकार की कह दिया गया था प्राग भाव तथा ध्वंस भाव में वच तीन कह दिया गया था तो इसमें से नित्य हो और भाव हो नित्य में दो आते हैं तो और भाव कहने से तीन आते थे तो तीन में से दो तो नित्य नहीं है तो इसलिए नित्य हो संसर्ग भाव हो के अनुसार से भाव हो ध्वंसादि वारणा या नित्य पदम खाली संसर्ग भाव कह देंगे तो तीन हो जाएंगे तो इसलिए नित्य कह दिया ताकि ध्वंस का वारण हो जाएगा ध्वंसादि आदि के से का अभाव अच्छा अत्यंत अभाव से नित्यत्व ये विचार पहले आया था फिर दिखाते हैं अत्यंत अभाव से नित्य घटा भूतले घटो नास्ती प्रतिज्ञापत्ति नित्यता अभाव नित्य हुआ अभी भूतल में घट नहीं था घटाभाव का प्रतीति हो रही थी किंतु अभी घट अनयन हुआ और घट अत्यंत अभाव नित्य है तो अभी उसकी प्रतीति होनी चाहिए भूतले घटो नास्ती प्रतिज्ञापत्ति अत आह ये पहले कहा था तत्त कालीन भूतवादी कम संबंध तत्त अभाव का संबंध ऐसा कहा था तत्त कालीन अर्थात तत्त अभाव कालीन तत्त भूतल अनुयोगी हो गया उसमें अनुयोगिता तो यही अनुयोगिता संबंध हो गया था अभाव का संबंध अगर ये अनुयोगिता संबंध रहेगा तो अभाव का संबंध रहेगा तो अभाव की प्रतीति होगी कभी तो अभाव ये संबंध कौन है कहते हैं तत्तत्कालीन भूतगण तत्तत्कालीन अर्थात तत्त अभाव प्रतीतिकालीन भूतल ये कह दिया तो अभी कहते हैं जब आप घट लेंगे अभी वो भूतल तो रहा किंतु ये घट अभाव ज्ञान कालीन भूतल नहीं हुआ नहीं होने से घट अभाव कालीन ज्ञान होता है घट अभाव ज्ञान कालीन घट अभाव ज्ञान कालीन भूतल संबंध आज जो घट आ गया अब वो भूतल में घटाभाव ज्ञान नहीं होगा तो अभी घटकालीन भूतल हो गया इसलिए घटाभाव का संबंध नहीं रहा था प्रतीति नहीं होगी पहले कहा था इसी को दोबारा फिर विचार दिखाते तथा अच्छा यत्र तू प्रतीत्यापति यत्र तू मूल में यत्र तू यत्र तु भूतलादो अच्छा इसमें भूतलादो औ छुट गया ये ये ये वाला पुस्तक में यत्र तु भूतलादो घटाधिकम अपसारितम पुनर् आनितम च जहाँ भूतलादि में घट का अपसारण किया गया हटाया गया पुनः आनितम च तत्र घट काल से सं सं के आगे हाइफिन चाहिए घटकालीन संबंधा घटकत्व घटकालीन संबंधा घटकत्व ये आप लोग का पुस्तक में तो सीधा है हाँ घटक आलस्य घटक आलस्य संबंधा घटकत्व तो इसमें सम पूर्व पृष्ठा में हो गया तो हाइफेन दे देंगे घटक आलस्य संबंध अघटकत्वाद तो ये जो घटाभाव का संबंध होना चाहिए अगर घटकाल हो गया तो वो भूतल अभाव का संबंध नहीं बनेगा क्योंकि कहा था कि तत्त अभाव ज्ञान कालीन तत्त भूतल अभी जिस समय में घट आ गया अभी ये घटकालीन भूतल हो गया अभी घट अभाव ज्ञान कालीन भूतल नहीं रहा तो कहते हैं घटकालीन जो भूतल हो गया वो संबंध का घटक नहीं होगा घट अभावकालीन जो भूतल हो वही संबंध है तो घटकालीन से संबंध अघटकत्वाद अभी अभाव के साथ संबंध ही नहीं रहा भूतल का क्योंकि संबंध होना चाहिए घट अभावकालीन भूतल अभी घटकालीन भूतल हो गया तो संबंध का घटक नहीं हुआ तो संबंध ही नहीं रहा तो अत्यंत अभाव से नित्यत्व भी घटकाले न घट अत्यंत अभाव बुद्धि घट अत्यंत अभाव नित्य है फिर भी घट अत्यंत अभाव का संबंध भूतल के साथ नहीं रहा नहीं रहा तो अचिंता होगा ज्ञान नहीं होगा संबंधी का ज्ञान अगर होगा तो संबंध का भी ये ज्ञान आना चाहिए संबंध ही नहीं रहा तो फिर संबंध ही अब नहीं बनेगा तत्र अभी इसमें कुछ लोग कहते हैं अच्छा पहले टीका में तथा च संबंध अभावादेव घटानयनानंतरम घटात्यंता भाव उद्धीर्ण इति भाव अभी संबंध नहीं रहा घट अत्यंत अभाव रहा रहा वो तो नित्य है किंतु तो संबंध ही नहीं रहा संबंध था तत्त अभाव ज्ञान कालीन भूतल अभी अभाव ज्ञान कालीन नहीं रहा अच्छा। भाव तथा च संबंध अभाव घटा नयन अनंतरम घट अत्यंता भाव बुद्धि न घट अत्यंता भाव बुद्धि ये नहीं होगी काल विशेष अच्छा पहले मूल में तत्र मुक्तावली में तत्र उत्पाद विनाशशाली चतुर्थो अयम अभाव केचित अत्यंत अभाव तो नित्य है किंतु प्रथम भूतल में घट था आप हटा लिए पुनः घट ले आए ये अत्यंत अभाव नहीं है जो घट था फिर घट घटा लिए हमको एक अभाव का ज्ञान हुआ हाँ, घट अभाव का ज्ञान ये घट अत्यंत अभाव नहीं है क्योंकि बाद में फिर जब हम घट ले आते हैं वो अत्यंत वो अभाव फिर चला नाश हो गया इसलिए कहते हैं उत्पाद विनाशशाली चतुर्थ अयम अभाव अर्थात जो संसार का अभाव जो तीन प्रकार की हुए प्रागभाव ध्वंस अत्यंत अभाव वो उसको छोड़ करके चतुर्थ और एक अभाव है अर्थात एक अनित्य अत्यंत अभाव जो कि उत्पत्ति विनाशशाली हो गया है तो नित्य अत्यंत अभाव है ये उत्पत्ति विनाशशाली अभाव है चतुर्थ अयम अभाव तो बाकी जो तीन संसार का अभाव थे उसमें से उत्पत्ति विनाशशाली कौन है कोई नहीं था ये जो तीन प्रकार की संसर्ग भाव थे उसमें उत्पत्ति विनाशशाली कोई नहीं थे ये एक अभाव है जो उत्पत्ति विनाशशाली होगा एक संसार का भाव और उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है एक चतुर्थ मान लेंगे इति के कुछ लोग ऐसा करते हैं दिनकरी में काल विशेष विशिष्ट स्वरूप से संसर्ग तो उपगमात एवं तत्त अभाव ज्ञान कालीन तत्तद भूतल ये संबंध होता है आप कहते हैं इसी को कहते हैं काल विशेष विशिष्ट काल अर्थात घटाभाव काल तत्त अभाव ज्ञान कालीन कहते हैं अर्थात घटाभाव काल विशेष से विशिष्ट हो गया जो स्वरूप वो हो गया भूतल वो ही संसर्ग को उपगमान वो भूतल ही संसर्ग हुआ जो कि काल विशेष से विशिष्ट वो काल कौन सा है घटाभाव काल घटाभाव काल विशेष विशिष्ट रूप से तो उपगमा देव घटवती घटो नास्ती प्रतीति अभाव उपपत्तो जिस समय में घट आ गया उस समय वो काल विशेष विशिष्ट नहीं हुआ तो नहीं होने से घटो नास्ती इति प्रतीति नहीं होती क्योंकि अभी घटा आ गया वो काल विशेष नहीं रहा इति उपपत्तो चतुर्थ भावे माना भाव ये चतुर्थ क्यों मानेंगे तो जो प्राचीन लोग समाधान दिए थे उसी से ही हो जाएगा ये घट अत्यंत अभाव है तो प्रतीति होना नहीं होना कहते हैं कि संबंध होना नहीं होना संबंध है तो प्रतीति हो जाएगा संबंध नहीं है तो प्रतीति नहीं होगी तो संबंध ये भाव अभाव के ऊपर निर्भर किया तो इसलिए चतुर्थ भाव स्वीकार करने का आवश्यक नहीं है चतुर्थ संसर्गाभाव मानाभाव इति अस्वरस केचिद अनेन अनेन सूचित संबंध हो गया वो भूतल किंतु तो केवल भूतल नहीं तत्त अभाव ज्ञान कालीन भूतल इसी से ही संबंध होगा तो घट घटाभाव की प्रतीति हो जाएगी संबंध नहीं है तो घटाभाव की प्रतीति नहीं होगी घटाभाव तो नित्य है घट अत्यंत अभाव नित्य है किंतु तो अभी प्रतीति होना नहीं होना इसमें विवाद होने से कहते हैं अत्यंत अभाव नित्य है तो प्रतीति होना नहीं होना ये कैसे घटेगा इसलिए उत्पत्ति विनाशशाली चतुर्थ भाव मान लेंगे समाधान दिए प्राचीन लोग कहते हैं प्रतीति होना नहीं होना इसको लेकर के विवाद है ना हम उसके लिए समाधान दे देंगे जब संबंध है अभाव का प्रतीति होगी अभाव का संबंध नहीं है तो प्रतीति नहीं होगी तो ये संबंध होना नहीं होना के ऊपर अभाव की प्रतीति होना नहीं होना यह निर्भर हो जाएगा ये संबंध क्या है तो कहते हैं तत्त अभाव ज्ञान कालीन तत्त भूतल जिस समय में घट आ गया तो फिर तत्त अभाव नहीं रहा अभी अभाव कालीन भूतल नहीं रहा घट आ गया तो तो अभावकालीन भूतल संबंध जब घट आ गया अभावकालीन भूतल नहीं रहा तो संबंध नहीं रहा विशिष्ट भूत हाँ तत्काल अर्थात तो अभावकालीन अभी घटा आ गया तो अभावकालीन भूतल नहीं रहा तो संबंध नहीं रहा हम्म। अनुयोगिता उसमें अनुयोगिता रहेगा तो अनुयोगिता कहने से अर्थात तो अनुयोगी रूप ये संबंध हो गया क्योंकि अभाव स्वरूप संबंध से रहेगा स्वरूप क्या है अनुयोगी स्वरूप मानना हाँ, तो चतुर्थ अभाव नहीं मानेंगे अत्यंत अभाव मानेंगे वो नित्य होगा किंतु संबंध अभाव हो जाने से और प्रती नहीं होगी ये कहा गया ननु मास्तु घटकाले घट अत्यंत अभाव बुद्धि पूर्व पक्ष कहता है घट काल में जब घट ले आया जाए तब तो घट अत्यंत अभाव बुद्धि नहीं होगी क्यों नहीं होगी संबंध नहीं रहा ये तो ठीक है किंतु घट उत्पत्ति है प्राग काल है तो जब तक घट उत्पत्ति नहीं हुई है तब तो घट की अत्यंत भाव रहनी चाहिए क्योंकि जब घट उत्पत्ति नहीं हुई है तब घट तत्त भूतल भूतरव है कहेंगे तो होने से प्रतीति होनी चाहिए आपका संबंध है संबंध है तो प्रतीति होनी चाहिए घट उत्पत्ति है प्राप्त काले तो सियाद आह मूल में मुक्तावली में प्राचीन लोग कहते हैं अत्र ध्वंस प्राग भावाधिकरण न अत्यंताभाव इति प्राचान मत ध्वंस और प्राग भाव का अधिकरण में अत्यंताभाव नहीं रहेगा तो आपने कह दिए कि घट उत्पत्ति प्राग काल में घट की प्राग भाव है तो घट का ये प्राग भाव जहाँ रहेगा वहाँ घट का भाव नहीं रहेगा तो घट का प्राग भाव कहाँ प्रतीत होता है वो कपाल में होगा तो प्राचीन लोग कहते हैं कुछ कपालों में घटक का अत्यंत अभाव का अनुभव नहीं होगा आपको ये भूतलों में हो सकता है कहीं हो सकता है अलग बात है किंतु उस कपाल में जहाँ घट का प्रागभाव रहेगा वहाँ घट का अत्यंत अभाव अनुभव नहीं होगा तो न अत्यंत अभाव इति प्राचा मत वो लोग भी क्यों इस प्रकार कहते हैं तो कहते हैं ऐसा प्रतीति नहीं होती है तो प्रतीति क्या होती है वो लोग प्राचीन लोग प्रागभाव को मानते हैं नहीं मानते हैं मानते हैं कहते यह घटो भविष्य इति प्रागभावश्य ज्ञान हो तो प्रागभाव ज्ञान होता है तो हम यथेता हो को क्यों माने नब्बे लोग यथेता हो को कह रहे थे प्रतिबंध का भाव मान प्रतिबंध का भाव लेने इति प्राचा मत ऐसे वो लोग कहते हैं आगे दिनों कहते हैं अच्छा आज से सुनूंगा ओम शंकर शंकराचार्य केशव भगवन्तमुकुन्दे भगवन्तमुकुन्दे